और उसकी निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरज और चांद सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि उस अल्लाह ताला को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो